और एक मसला और था इसमें कि मूर्ति के चढ़ावे की यानी बुत को चढ़ा करके जो मिठाई वगैरह दी जाती है तो उसका लेना खाना ये सब हराम ही होगा इसका भी ध्यान ख्याल रखा जाए मूर्ति को चढ़ा करके उनकी मूर्ति जिसको वो पूछते हैं उसको चढ़ा करके अगर कोई मिठाई वगैरह दी जाए जिसे चढ़ावा कहते हैं तो उसका लेना खाना पीना ये सब हराम होगा